परम पिता परमात्मा का स्मरण प्रणव ध्वनि ओ परम प्रेमी सज्जनों आर्य विनय के दूसरे प्रकाश का पांचवा मंत्र आर्य को कैसी प्रार्थना करनी चाहिए इस बात को बता रहा है ऋचम वाचम प्रपत्ति ऋक को मैं प्राप्त हूं ज्ञान को मैं प्राप्त हूं प्रपत्ति और वह ज्ञान मेरा वाचम प्रपत्ति वाणी में भी प्राप्त हो मैं उसको बोलने की बताने की सामर्थ्य से भी युक्त हूं ज्ञान मेरा ऐसा समझा हुआ हो कि उसे मैं यथावत वाणी से भी अभिव्यक्त कर सकूं ऋचम वाचम प्रपत्ते आगे कहा मनो यजुह प्रपत्ति जो यजुह है यजुर्वेद है कि कर्म का मुख्य प्रतिपादक है वो मुझे प्राप्त हो और वो मेरे मन को प्राप्त हो मैं उसके बारे में अच्छी प्रकार से मनन कर सकूं और वो कर्म कर्म का ज्ञान मुझे क्या करना है वो मेरे मन में सदा बना रहे मुझे ये ये कार्य करने हैं वो मन में रहे और जब वो कार्य होंगे तब वो प्रकट होंगे औरों के लिए भी लेकिन वैसे मेरे मन में रहे मैं केवल वाणी से ही अपनी योजनाओं को बोलता हुआ न रह जाऊं मेरे मन में रहे साम प्राणम प्रपत्ति मुझे साम यानी भक्ति भी प्राप्त हो सामवेद भी प्राप्त हो और वो मेरी भक्ति वो मेरा साम मेरे प्राण और अपान में रहे मेरे प्राण में रहे प्राण भी मुझे प्राप्त हो जीवनी शक्ति मुझे प्राप्त हो और ये जो प्राण है मेरा श्वास है इसमें मेरी भक्ति मेरी साधना बनी रहे प्रत्येक श्वास के साथ प्राण के साथ मेरी भक्ति मेरे हृदय में अंदर विद्यमान रहे मेरी भक्ति केवल मनन तक सीमित ना रह जाए विचार तक सीमित ना रह जाए जैसे जीवन है प्राण वैसे ये भक्ति मेरे जीवन की तरह से मेरे प्राण की तरह से रहे जैसे मैं प्राण से जीता हूं ऐसे मेरा जीवन उपासना से युक्त हो साम से युक्त हो और मैं चक्षु श्रोत्रम प्रपत्ति देखने की शक्ति चक्षु को भी प्राप्त हो और श्रोत्रम श्रवण शक्ति को भी प्राप्त हो ये जो ऊपर तीन प्रकार का ज्ञान बताया ऋख यजु और साम ये मुख्य रूप से कहा रहे वो पहले बताया कि इनकी प्राप्ति हमें चक्षु और श्रोत्र इन दो तत्व से होती है मुख्यतः हमारी ज्ञान की प्राप्ति नेत्र और श्रोत्र इन दो से होती है भद्रम कर्णे भी श्रृणुयाम देवा भद्रम पश्येम अक्षभिर यजत्रा वहां भी दो इंद्रियां कही गई इन दो इंद्रियों की ज्ञानेन्द्रियों की हमारी उन्नति में अधिक उपयोगिता है सार्थकता है और इनमें भी श्रोत्र हमारे लिए अधिक उपयोगी है ज्ञान की दृष्टि से यूं व्यवहार में नेत्र भी बहुत उपयोगी है किंतु ज्ञान आदि की दृष्टि से श्रोत्र हमारे लिए अधिक उपयोगी हैं तो इन दोनों से जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है इन दोनों की शक्तियां मुझे प्राप्त हों प्राप्त रहें और इनसे जो फिर मैंने प्राप्त किया है वो रिक मेरी वाणी में भी रहे यजु मेरे मन में रहे कर्म की भावना मेरे मन में सतत बनी रहे और साम मेरे प्राण में रहे मेरे जीवन के रूप में रहे और इस सब के लिए परमात्मा से प्रार्थना की गई वाग ओजह सह ओजह मई पानव मुझे वाणी की शक्ति प्राप्त हो वक्तृत्व शक्ति प्राप्त हो फिर ओजह शब्द से मानसिक शक्ति का ग्रहण किया स्वामी जी ने मानसिक सामर्थ्य चिंतन मनन की सामर्थ्य मुझे प्राप्त हो और ये ओजह फिर एक बार ओज आया तो शरीर आदि की शक्ति भी मुझे प्राप्त हो और मेरे अंदर प्राण और अपान ये दो कर्म ये दो शक्तियां विद्यमान रहें समर्थ रहें दृढ़ रहें जिससे कि मैं ये सारी की सारी चीजें कर सकूं यहां बहुत सारी चीजें जो प्राप्त करने के लिए लिखी हैं उसमें प्रारंभ में दो दो के जोड़े बनाए उसमें रिचम और वाचम ऋग्वेद ज्ञान का वेद है और ज्ञान को वाणी के साथ में जोड़ना होता है केवल ज्ञान दिया है हम समझ रहे हैं हमने जान लिया है लेकिन वो तब तक उस तरह प्रमाणित नहीं होता जब तक हम वाणी से उसको अभिव्यक्त भी नहीं कर देते हैं दूसरे को बता नहीं देते बता नहीं सकते तब तक वो वैसा प्रमाणित नहीं होता उसमें कुछ न कुछ न्यूनता रह सकती है जितना हम जानते हैं उसको जानने तक हम रखें तब हमारी जो समझ होती है कि मैं इस विषय को जानता हूं वहां भी बोध बनता है कि मैंने इस विषय को समझ लिया है और जब उसको वाणी से दूसरों तक पहुंचा देता है दूसरे भी उसको जान लेते हैं अब जो समझ बनती है वो एक अलग समझ बनती है यजु और मन का संबंध यजुर्वेद कर्म का वेद है क्रिया का वेद है मुख्यता वहां पर कर्म की है हम जो करना चाहते हैं वो हमारी मात्र वाणी पे न रहे ज्ञान हमारी वाणी पे रहेगा तो हो सकता है वो कार्य होगा वहां पर लेकिन जो करणीय है कर्म है वो वाणी पर रहेगा उतने से नहीं होगा काम नहीं चलेगा वो हमारे मन में बैठा हुआ होना चाहिए कि ये मुझे करना है और हमारी जो योजना है हमारे जो कर्म है वो हमारे मन में आते ही वाणी पे नहीं आ जाने चाहिए अनेक बार अति उत्साह में योजना बनी मन में विचार उठा और उसको हम वाणी पे लाना चाहते हैं दूसरों को बताना चाहते हैं उससे हम सुख लेते हैं उससे हम यश की प्राप्ति करते हैं संतोष को प्राप्त करते हैं तो जब भी कुछ करने का मन में आए वो वाणी पे ना आए वो अंदर मन में रहे राजा के लिए एक विशेष गुण बताया गया राजा के विशेषणों के अंदर पुराने जो हमारे राजा हुए हैं उनके एक गुण को बताया जाता है कि उनके विचार को योजना को अन्य लोग तभी जान पाते हैं जब वो क्रिया में आ जाता है मन में जब जिस समय रहता है उस समय दूसरों को पता तक नहीं लगता कि ये क्या करने वाला है ये राजा के लिए एक विशेषता है उसके मन में आया मन में योजना बनी और उसने बोल दिया करने से पहले बहुत पहले से ये योजना है ये योजना है तो उसके विरोधी लोगों को भी बहुतों को पता लग जाएगा इसलिए ये ये करना चाहता है बाधाएं खड़ी की जा सकती हैं वो देखते रहते हैं राजा क्या करने वाला है कहां जाने वाला है कैसे होगा तो उसको पकड़ करके फिर तद अनुरूप कुछ विपरीत कर सकते हैं दूसरा जो कथन मात्र हो जाता है बहुत सारी बातें जो हमारे मन में है योजना है वो हम नहीं कर पाते हैं सब हो नहीं पाती है हमारी सामर्थ्य भी नहीं हो पाती है और अन्यों का सहयोग भी नहीं मिल पाता है तो जो हमारे मन में बहुत सी योजनाएं हैं वो यदि वाणी पे भी आ जाती हैं सबको पता लगती रहती हैं और फिर वो हो नहीं पाती हैं पूरी तो हमारी एक विपरीत छवि बनती है कि ये व्यक्ति बोलता तो है ये बोल रहा था वो बोल रहा था करता नहीं है जैसा कि विभिन्न राजनेताओं के लिए होता है विभिन्न दलों के लिए होता है वो चुनाव से पहले बहुत कुछ बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे और वो कर नहीं पाते क्योंकि अति में बोल देते हैं तो ऐसा असमंजस्य ना हो हम जो करना चाहते हैं वो हमारे मन में रहे आगे तक की योजना है किंतु औरों के सामने यदि कभी रखना है तो तब हो जब या तो क्रियान्वित होने की सज्जा हो चुकी हो योजना बन चुकी हो पूरा निर्धारित हो चुका हो कि अब तो ये तो होएगा ही और करना है हमें अब बाकी जो योजनाएं हैं दो साल पांच साल बीस साल बाद में हमें करनी है वो मन में रहें चिंतन मनन पूर्वक रहें सोची विचारी रहें इतना ठीक है लेकिन प्रकट न हो दूसरों तक यचु मनो प्रपत्य और साम प्राणम प्रपत्ति जो भक्ति है ईश्वर की उपासना है ईश्वर के प्रति हमारा भाव है हमारा अपना व्यक्तिगत उपासना संबंधी जो ज्ञान है विज्ञान है वो तो रिक के अंदर आएगा वो तो बोला ही जाता है जो उपासना संबंधी कार्य योजना है वो मन में रहेगी ऐसे ऐसे मुझे उपासना करनी है ऐसे ऐसे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है लेकिन जो उपासना तत्व है परमात्मा की निकटता है साम है वो मेरे प्राण में रहना चाहिए मेरे जीवन में रहना चाहिए मैं उस भावना से युक्त होकर के ईश्वर के प्रति भक्ति रखते हुए जीवन को चलाऊं ईश्वर मेरे लिए प्रापणीय है इस भावना को मन में रखते हुए जीवन चलाऊं इस प्रकार से साम मेरे अंदर होना चाहिए वो ना तो केवल वाणी का विषय बने और न केवल मन का मनन का विषय बनकर के रह जाए वो अंदर मेरे रचा बसा हो प्राण और अपान जो दो वायु के भेद हैं वायु के पांच भेद माने जाते हैं दस भी माने जाते हैं भिन्न रूप में कार्य की दृष्टि से वायु एक शक्ति के रूप में है हमारे शरीर में जो कि जिनसे कि विभिन्न क्रियाएं होती हैं सब कर्मों को प्रेरित करना सब कर्मों को करने की सामर्थ्य देना क्रियाएं जितनी हो रही हैं हमारे शरीर में वो वायु के कारण से होती हैं वायु शब्द भी उसी का द्योतक है गत्यर्थक धातु है इसमें आयुर्वेद में भी जहां वात पित्त और कफ की बात आई तो वात जो है वो वायु का आकाश और वायु का प्रतिनिधि है मुख्य रूप से वायु का तो वहां भी वायु के भी विभिन्न भेद बताए गए और वायु को कहा गया वायु स्तंत्र यंत्र धरा इस तंत्र और यंत्र को धारण करने वाला है ये तंत्र और यंत्र ये सारा जो तंत्र बना हुआ है यंत्र बना हुआ है उसको वो धारण करता है सर्वेन्द्रिया नाम उद्योजक सब इंद्रियों को प्रेरित करने वाला भी ये वायु है चाहे ज्ञानेन्द्रिया हो चाहे कर्मेन्द्रिया हो जो ये कर्म में प्रवृत्त होती है ये वायु के कारण से होती है और बहुत सारी बातें वहां पर लिखी गई हैं अर्थात वायु हमारी क्रियाओं से जुड़ा हुआ है वायु के कारण हमारी विभिन्न क्रियाएं होती हैं और शरीर में हमारी हृदय भी धड़क रहा है श्वास भी हम ले रहे हैं छोड़ रहे हैं हमारे को डकार भी आती है हमारे को उल्टी भी होती है मलमूत्र का विसर्जन भी होता है तो यहां पर जो लिखा प्राण जिससे कि ऊर्ध्व चेष्टा होती है ऊपर की जो हमारी चेष्टाएं हैं ऊपर के भाग की जो चेष्टाएं हैं उसको यहां प्राण के लिए लिखा विभिन्न क्रियाएं होती हैं छींक आती है ये भी एक ऊपर की क्रिया है इसको यूं देखते हैं तो उड़ान के लिए लेते हैं प्राण को संपूर्ण शरीर में फैलने वाला जो भी है लेकिन फिर भी यहां जो लिखा वो प्राण को मुख्य रूप से ऊपर की क्रियाएं और अपान जो है वो नीचे की क्रियाएं नाभि से नीचे की जो क्रियाएं हैं मल मूत्र का त्याग है गर्भ का नीचे आना है संतान की उत्पत्ति है इत्यादि जो भी चीजें नीचे जाती हैं उनको करने वाला उनमें सहयोगी अपान वायु है उसकी क्रिया से ये क्रिया को करने वाला है वायु का मतलब केवल हवा नहीं लेना होता है यहां पर क्रिया को करने वाला भी पूरा तंत्रिका तंत्र जो है जिसके कारण हमारी नीचे की क्रियाएं होती हैं जिसके कारण हमारी ऊपर की क्रियाएं होती हैं भोजन हम निकलते हैं ये भी एक क्रिया है अंदर की तरफ जाना जैसे वमन एक क्रिया है बाहर की तरफ आना ऐसे भोजन का अंदर जाना पानी का अंदर जाना ये भी क्रिया है श्वास का अंदर जाना और श्वास का बाहर फेंक पाना ये जो सामर्थ्य क्रियाएं हैं ये भी वायु के कारण से होती है तो वो सब मेरी ठीक रहे समस्त क्रियाएं मेरी ठीक होती रहे ये परमात्मा से प्रार्थना की गई जिससे कि मेरी ज्ञान कर्म और उपासना तीनों ठीक ढंग से हो सके किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछिए तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे परमात्मा से ज्ञान कर्म उपासना की सामर्थ्य उनका यथा योग्य उपयोग कर सकने की प्रार्थना ओ Oh. अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पत शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शांति सर्व शान्तिः शान्तिरेव शांति सामा ओ ॐ शांति शांति शान्तिः सर्वेभ्यो नमः